अल्लाह की तरफ से इंसान को मिली है जो रहबरी अल्लाह ताला ने इंसान को दी है अगर अपनी अमली ज़िंदगी में ईमान और अमल के अतबार से एक इंसान उस हिदायत को अपनाता है तो अल्लाह ताला अपनी तरफ से उसको मज़ीद हिदायत अता फरमाता है इसी तरह से एक इंसान हक से और इल्म से अल्लाह ताला की रहबरी से मुंह मोड़ के गुमराही के रास्ते को अपनाता है तो ऐसे इंसान को अल्लाह ताला गुमराही की तरफ धकेल देता है इससे बात मालूम होती है कि हर नेकी अगली नेकी को जन्म देती है हर नेकी अगली नेकी की तरफ इंसान की रहबरी करती है हर गुनाह इंसान को मजीद गुनाहों की तरफ ले जाता है एक छोटा गुनाह अगर आदमी उस पर अमल करता रहे वो गुनाह बड़ा बन के एक इंसान के लिए भयानक नतज पैदा करता है इसीलिए आपने देखा होगा हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्चाई जन्नत की तरफ ले जाती है सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत की तरफ आदमी सच बोलता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह के हाँ उसको सच्चा लिख दिया जाता है आदमी झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि उसको अल्लाह के नज़दीक कज्जाब झूठा लिख दिया जाता है लिहाजा एक इंसान अगर एक अमल करता रहे तो अल्लाह रबालमीन उस अमल के ज़रिए से मजीद और अमाल किसको तोफीक देता है उसकी हिदायत को बढ़ाता है इसलिए ख़ास तौर से एक इंसान को दीनी मजालिस में आने की कोशिश करना चाहिए और दीनी दुरूस के सुनने का और इस पर अमल करने का अहतमाम करना चाहिए दीनी दुरूस में हाज़िरी के लिए एक इंसान इस बात की कोशिश करे कि आप लोग खामोशी से करें डिस्टर्ब न करें जो लोग दीनी मजालिस में आते हैं वो इस चीज़ का अहतमाम करें कि दीनी दुरूस में वो अमल की नीयत से आए उनके दिलों में चीज़ हो कि जो बात चाहे एक हदीस हो एक आयत हो एक नसीहत हो अगर हम उसको सुने तो वह हमारी अमली ज़िंदगी में भी आए ऐसा ना हो कि दीनी गुफ्तु का सुनना सुनने की हद तक बाकी रहे जब आदमी सिर्फ सुनने के लिए सुनता है तो एक वक्त के बाद में उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है उसका शौक ख़त्म हो जाता है लेकिन जब आदमी अमल के लिए सुनता है तो हर मरतबा उसको अपने अंदर ईमान की क़वत और अमाल के अतबार से मजबूती महसूस होती है लिहाजा दीनी मजालस में जब भी हम आए हमारा जज्बा अमल का हो जब आदमी अमल के लिए इल्म हासिल करता है अमल के लिए दीन की बात सुनता है तो उसके ईमान में और अमल में अल्लाह की तरफ से बरकत दी जाती है पिछले दस में नौजवानों के बारे में कुछ बातें हमने देखी थी कि मिसाली नौजवान कौन है पहली चीज जवानी की उम्र की कदर करना मिसाली नौजवान एक अच्छा नौजवान वो नौजवान है जिसको अपनी जवानी की कदर हो जिसको अपनी उम्र की कदर हो वो उस वक्त को ज़ाय करने वाला ना हो बल्कि उसका खास लिहाज करके उस उम्र में अपने दीन को अपने अमाल को बेहतर बनाने की कोशिश करें दूसरी चीज उसका अकीदा सही हो एक अच्छा इंसान कौन है जिसका अकीदा सही हो उसका मनहज सही हो वो सही उसूलों के साथ ज़िंदगी गुजार रहा हो वो तोहहीद वाला हो शिरक वाला ना हो वो अपने अकायद की असलाह करने की तरफ सबसे ज़्यादा फिक्रमंद हो तो दूसरी चीज़ ये है कि एक अच्छा नौजवान वो है जिसका अकीदा सही हो और उसका मनहज यानी उसका रास्ता सही दीन को समझने के लिए वो सही रास्ता अपनाएं तीन दीन का इल्म हासिल करने का शौक उसमें हो और सिर्फ सतही मालूम नहीं बल्कि गहराई के साथ दीन का इल्म हासिल करें और इसी के साथ साथ इल्म हासिल करने में वो अपनी ज़ात पर अतमाद न करे बल्कि की मातहती को अख्तियार करें ये नहीं कि कोई भी किताब कहीं से उठा ली पढ़ना शुरू कर दिया ये नहीं कि इंटरनेट पर जाकर कोई भी वेबसाइट है वहाँ से मालूम जमा करनी शुरू कर दी नहीं बल्कि इल्म हासिल करने में वो उलमा के मातहत रहकर चले कौन सी किताब पढ़ना किसका दर्द सुनना किसका बयान और किताब सुनना कौन सा वेबसाइट मोतबर है कौन सा नहीं है ये सारी चीज़ें मातहती होना चाहिए अगर ये मातहती ना हो तो आदमी गुमराही के गड़े में जाकर गिरता है निकलना मुश्किल हो जाता है या तो ये तीसरी चीज़ है चार चौथी चीज गैर इस्लामी तशब से एहतराज यानी वो सुन्नत का पाबंद हो अपनी ज़िंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाएं खाने पीने के अतबार से लिबास के अतबार से और सोने जागने के अतबार से घर में दाखिल होने के अतबार से घर का माहौल बनाने के अतबार से घर के माहौल के अंदर या घर से बाहर उसकी अपनी जाति ज़िंदगी में और ख़ानदान में सुनते आए ऐसा ना हो कि वो यहूद और नसारा के और गैर मुस्लिम कौमों के तौर तरीकों को अपने घर में लाए लिबास के अतबार से हो बातचीत के अतबार से हो खाने पीने के अतबार से हो सोने के अतबार से हो वो गैर इस्लामी मुशाबात से सिमिलैरिटी से बचे कितने लोग हैं जो औदास होते हैं कितने लोग हैं आंदा सोते इसमें कोई ऐब नहीं समझते शैतान सोता है आंदा सोना कैसा है शैतान का तरीका है सही नहीं है कितने लोग हैं बाएं हाथ से खाते हैं बाद अवकात आदमी दाया और बाया दोनों जमा करता है कैसे बाएं हाथ से पीता है और दाया हाथ उसको कनेक्ट कर देता है तबर्रुक के लिए ये क्या है पीना तो बाएं हाथ से ही है इसकी तो कोई जरूरत नहीं अगर आदमी हाथ सीधा नहीं लगाता क्या मतलब था पीत ग्लास पकड़ा किस हाथ से है लेफ्ट हैंड से तो पीता तो उसी से है लेकिन क्या करता है नीचे हथेली भी जोड़ देता है करंट लगाने के एतबार से कि हाँ कम से कम दिल को तसली मिले कि सीधा हाथ भी मशगूल है सीधा हाथ भी लगा हुआ है क्या जरूरत है इस चीज की ऐसे लोगों से कहा जाए भाई मत करो ऐसा है मुसलमानों का तरीका नहीं शैतान का तरीका है बाएं हाथ से खाना पीना किसका तरीका है शैतान कहते हैं गिलास खराब होगा आपका मुंह उसको लग रहा है वो खराब नहीं हो रहा आपका हाथ लग जाएगा खराब होगा आप खा रहे हो आपका हाथ खाने में तना हुआ है खाना लगा हुआ है आप उसको छूना नहीं चाहते क्यों गिलास खराब हो जाएगा लेकिन आपका मुंह भी तो वैसे ही है जो उससे ज्यादा खराब है कि सारी चीजें मुंह में भी तो गई चबाया है हाथ से तो चबाया नहीं ना अब वो जो चबाया मुंह में का है आप उससे ग्लास से पी नहीं रहे तो क्या उसको मुंह नहीं लगा रहे आप क्या ऊपर से पियेंगे उसको या स्ट्रॉ डाल के पियेंगे उसके अंदर कैसे पियेंगे तो बहुत सारे लोग इतनी ज्यादा पाकिजगी इख्तियार करते हैं कि अपने आप को इस्लामी अखलाक और आदाब से भी पाकिजा कर लेते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए बाएं हाथ से आदमी खाए पिए नहीं बाएं हाथ से आदमी सफाई करता है उसके लिए वह हाथ है लेकिन कितने लोग हैं आप देखिए पेशाब पानी पकाने के अतबार से भी एतराज नहीं कर पाते उनको भी नहीं मालूम है कौन सा हाथ कहाँ इस्तेमाल होता है खड़े होकर पेशाब कर दिया और कपड़ों का कोई एतराज नहीं क्यों इसलिए कि लिबास उसका ऐसा तंग है कि जिसकी वजह से वो पेशाब पाखाने का भी एहतियात उसमें भी एहतियात नहीं कर सकता है पिछले हफ्ते में इसको आप तफसील से देख चुके हैं तो इस्लामी तर्ज हयात को इख्तियार करें सोए उसकी सुन्नत क्या है जागने के बाद की दुआ क्या है ये ना करें कि दूसरी कौमों का तरीका अपना है निकाह हो निकाह में दूसरी कौमों का तरीका नहीं अपना है घर के अंदर खातन हैं बच्चियाँ हैं बेपर्दगी और वो सारी बेहयाई दूसरी कौमों की उसको इख्तियार न करें बल्कि ज़िंदगी गुजारने के तबाब से सुन्नतों का एहतमाम करें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लई समिन ना मन तशब्बा बगैरिना वह हम में से नहीं है जो हमारे अलावा दूसरी कौमों का तरीका अपनाए जो हमारे तरीके की बजाय दूसरी कौमों का दूसरों का तरीका अपनाए वह हमें से नहीं है बल्कि एक हदीस में आपने फरमाया मन तशबहा बेकौमिन पहु अमीन हो मन तशबहा बेकौमिन पहु अमीन हो जो जिस कौम की मुशाबा इख्तियार करता है वो उन्हीं में से है इस हदीस का क्या मतलब है बाज़ ने कहा जैसे इबन तैमिया रहमतुल्लाह ने इशारा किया इस तरफ और इबन सईम ने इसको जिक्र किया है कि ज़ाहिरी मुशाबहत बातनी मुशाबहत पैदा करती है जब किसी कौम के तौर तरीके आदमी ज़ाहरी एतबार से अपनाता है तो ये उसूल है कि ज़ाहिर का असर बातिन पर पड़ता है ज़ाहिर का असर बातिन पर पड़ता है अमाल से अवसाफ पैदा होते हैं एक अमल आदमी दोहराता रहे दोहराता रहे उस अमल के नतीजे में अंदर अखलाक और सिफत पैदा होती है अमल सिफत पैदा करता है अमल बाहर होता है सिफत उससे अंदर पैदा होना शुरू होती है इसलिए आप देखिए हदीस में क्या है सच बोलता रहता है लेकिन अल्लाह के नजदीक क्या होता है उसकी पाबंदी से सिद्दीक लिखा जाता है यानी अमाल से औसाफ हासिल होते हैं आमाल की तकरार आदमी को अवसाफ देती है लिहाजा दूसरी कौमें उनके तौर तरीके आदमी अपनाता रहता है उनके मुताबिक अमल करते करते करते करते करते उनका कुफर का शिर का भी इसके अंदर आ जाता है जब जाहिरी मुशाबात की तकरार होती है और उनसे मुशाबात होती है जाहिर में तो उसके असरात आदमी के बातिन पर भी पड़ते हैं और उनके अवसाफ इसमें अंदर भी आना शुरू होते हैं लिहाजा अहल बातिल के जाहिर में तरीके अपनाने वाला धीरे धीरे बातिन में भी उनकी तरह होने शुरू हो जाता है तो कोई मामूली चीज़ नहीं है इसीलिए हदीस में क्या है मन बहाब कौमिन जो जिस कौम की छवि इख्तियार करता है उसकी मुशाबहत इख्तियार करता है उसका जाहिर तौर तरीका अपनाता है उन्हीं में से है वो उन्हीं में कैसे हो गया भाई वो वो तो बस बार बार से उन जैसा था वो उन्हीं में से कैसे हो गया बाहर की जिंदगी में उनकी मुशाबहत करने की वजह से उसके असरात अंदर भी पड़ गए और वो उन्हीं की तरह हो गया इसलिए दूसरी कौमों के तौर तरीके अपनाने से बचना चाहिए मनतशा बहाव कौमिन हो जो जिस कौम की मुशावत इख्तियार करता है वो उन्हीं में से है इसलिए हमको चाहिए कि हम दूसरी कौमों के नौजवानों को खास तौर से क्योंकि नौजवानी की उम्र फैशन की शौकीन उम्र है नौजवानी की जो उम्र है बचपन में तो हाँ उसको कपड़ों का होश नहीं होता है जो पहना दिया पहन लिया नहीं पहनाया तो कोई एतराज नहीं कपड़े ही नहीं पहनाया तो क्या एतराज है भी कोई मसला मतलब नहीं बचपन की उम्र ऐसी होती है और बुढ़ापा बुढ़ापे में आदमी कुर्ता पजामा लुंगी इस पे आ जाता है उसको इतना ज्यादा शौक नहीं होता है कपड़ों का और सारी जिंदगी के जो दूसरे मामला होते हैं जवानी की उम्र में सर के बालों से लेकर जूतों तक और हर एतबार से आदमी को शौक होता है अपने आप को संवारने का शादीशुदा को भी होता है जरूरी नहीं कि गैर शादीशुदा को सबको होता है एक उम्र ऐसी है ये कि इसमें आदमी थोड़ा चाहता है औरतें हों या मर्द हों चाहते हैं और अक्सर उसमें वो चीज़ें आती हैं जो गैर मुस्लिमों का शार है ऐसी चीज़ों पर तो कोई इतराज़ नहीं जिसको सब इख्तियार किए हुए हों अच्छी से अच्छी आदमी घड़ी पहने कोई मसला नहीं घड़ी किसी कौम की नहीं होती है जूते किसी कौम के नहीं होते हैं लेकिन उसमें बाज़ अवकात वो मुशाबहत भी आ जाती है जो गैर मुस्लिमों की है और जो किसी ख़ास कौम का शार शियार सिर्फ दीनी नहीं होता है याद रखें शियार फासकीन का भी होता है और शियार जानवरों का भी होता है और शियार शैतान का भी होता है हमको सारी मुशाबहतों से मना किया गया है आप देखिए शैतान की तरह खाने पीने से मना किया गया बाएं हाथ से खाता है औंधा सोता है आधा धूप में आधा छाव में बैठता है उससे मना किया गया हम शैतान की मुशाबत नहीं इसी तरह से मुशरकिन की मुशाबहत नहीं यहूद और नसारा की मुशाबहत नहीं यहूद ऐसा करते हैं तो मत करो ऐसा नसारा उंगली के इशारे से सलाम करते हैं यहूद हाथ के इशारे से सलाम करते हैं तो मत करो ऐसा तो इस तरह से उनकी मुशाबहत से मना किया गया है और कई और चीज़ें हैं जानवरों की मुशाबहत से मना किया गया आदमी सज्जा करे तो कुत्ते की तरह हाथ न बिछाए सलाम फेरे तो सलाम के वक्त लोमड़ी की तरह न करे और इसी तरह से और भी जानवर हैं उनके बारे में कहा गया कि इनकी मुशाबत अख्तियार नहीं करना चाहिए तो शैतान की मुशाबत नहीं जानवरों की नहीं कुफार और मुशरकिन की नहीं अहल किताब यहूद यहूद नसारा की नहीं फास्किन की भी मुशाबत अख्तियार नहीं करना चाहिए फातिन कौन हैं जो गुनाहगार लोग हैं जो बेहया किस्म के लोग हैं लिहाजा हमारे घर की औरतें जैब जीनत उन औरतों की फाहिशा औरतों की तरह न करें जो फिल्मों में और नाच गानों में और स्टेज पे आके बरहनगी इख्तियार करती हैं हमारे घर की औरतें उनकी तरह जीनत इख्तियार न करें हमारे नौजवान उन लफंगों की तरह जीनत इख्तियार न करें जो उनका खास शियार आप देखिए कितने नौजवान हैं कपड़े फाड़ के यहाँ से फटा हुआ है पीछे से रान के पास से फटा हुआ है और पूरा दिखाई दे रहा है छुपाने की जगह दिख रही है क्या है फैशन फैशन है तो ऐसा फैशन इख्तियार न करें जिसमें इस्लामी हुक्म टूटता इस्लामी हुक्म टूटता बाद औरतें ऐसी जीनत इख्तियार करती हैं जो कि इस्लाम में हराम है ऐसे तंग लिबास कि लोगों को जिस्म का हजम दिखाई दे गैर मुस्लिमों की मुशाबहत न करें और गुनाहगार लोगों के तौर तरीके ना अपनाएं ऐसे लोग जो फासिकीन हैं उन जैसे न बने सालहीन की तरह बनने की कोशिश करें जो दीनदार किस्म के लोग हैं ऐसे बनने की कोशिश करें लिबास में उठने बैठने में बातचीत में खाने पीने में चलने फिरने में हर एतबार ऐसे तौर तरीके ना अपनाएं जो बुरे लोगों के होते हैं तो ये सारी चीज़ें हैं बाद आप देखिए दावत के मैदान में भी बीमारी आ जाती है दावत के मैदान में भी ये बीमारी आती है इसे दुनिया के मामला में नहीं आती है दिन में भी आती है आदमी देखता है यहूद नसारा ऐसा करते हैं हम भी वैसा करेंगे क्रिश्चियन लोग ऐसी दावत देते हैं हम भी ऐसी दावत देंगे आपको उनकी जरूरत क्यों पड़ी आपके सामने उसवा कौन है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसायल दावत क़ियामत तक बदलते रहेंगे इस एतबार से कि चीज़ें टेक्नोलॉजी बदलेगी लेकिन वसायल दावत में तरीक़ दावत जो है जिसका ताल्लुक दावत के तरीक़ेकार से है उसको आप बदल नहीं सकते हैं वो क़ियामत तक वही रहेगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा और सलफ ने अख्तियार किया आप उसमें नई कौमों के नए तरीक़े नहीं अपना सकते क्या आपने कोई म्यूज़िक वीडियो बना दिया और डाल दिया ताकि लोग उसके ज़रिए से क्या हों दीन के करीब आएँ बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रही है एकदम गमगीन म्यूजिक और कोई बहुत ही असर खिताब किसका चल रहा है और उसकी उसकी जो है वो म्यूजिक सुन के आदमी का दिल जैसे फिल्में देख के नरम होता है मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक का बहुत असर होता है अब बात लोगों ने कहा अभी म्यूजिक है ये वो म्यूजिक नहीं है पियानो की म्यूजिक नहीं है ये ये मुंह से निकाली म्यूजिक है आप सोचिए यानी हम करीब जा रहे हैं ना जहन्नम के करीब हम जा रहे हैं मुंह से आवाज करके ढोल की आवाज हाँ पियानो की आवाज गिटार की आवाज आप भी निकालना शुरू कर दे असल मना क्या है म्यूजिक अब कहीं से भी निकालो भाई आप मुंह से उसको बजा रहे हैं बात तो वही है ना सुनने वाले के लिए वही लज्जत मिल रही है आप बजा रहे आप कोई चीज कैसे भी बजाएं चाहे आप गिटार बजाएं या मुंह से बजाएं गिटार असल मसला तो वही है वो सुनने वाले के अतबार से तो मसला वही है बजाने वाला चाहे कैसी भी बजाए आजकल ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि आपको गिटार खरीदने की जरूरत नहीं है आपको ड्रम खरीदने की जरूरत नहीं है आपको पियानो खरीदने की जरूरत नहीं है आप क्या कर सकते हैं उस पर बटन दबाओ कंप्यूटर पे चल रहा है तो आप क्या करेंगे वो जो हराम है ना वो गिटार बजाना हराम है कंप्यूटर पे गिटार हराम नहीं है ये कहेंगे आप आवाज कौन सी पैदा हो रही है उसमें आवाज तो वही पैदा हो रही है तो असल असल एतबार इसका है इसीलिए हदीस में क्या है बात के लोग यानी इन चीज़ों को हलाल कर लेंगे शराब को हलाल करेंगे जिना को हलाल करेंगे इसी तरह से मौसीकी के आदि हो जाएंगे और मौसीकी इस तरह से अपने तौर पर हलाल कर लेंगे लिहाजा इस चीज से बचें अब बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रही मुंह वाली और खतीब जो है बयान दे रहा है कहीं से कट कर लिया किसी आलिम का बयान और उसको डाल दिया और पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक डाल दी मुंह वाली म्यूजिक और लोग सुन रहे हैं और असर दिल में पैदा हो कल ढोल भी कोई बजाएगा फर्क कौन करेगा कल वाकई कोई कहेगा नहीं बजाने नहीं आता उसको फिर मुंह से ले लो ये डाल दो बगैर मुंह की म्यूजिक वाकई म्यूजिक डाल दो फर्क क्या है कल को तो कोई आदमी खड़ा होकर ये कहेगा भाई उसके अगर वो मना नहीं है तो ये मना क्यों है बात तो एक ही बचे ईसाइयों की तरह यहूदियों की तरह या जो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री है उसकी तरह आप लोगों की जज्बात को नरम करने के लिए दावत के साथ साथ इस तरह की गैर इस्लामी चीजों को शामिल उसमें न करें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिनसे बचना चाहिए यहूद नसारा जैसे फिल्मों के प्रोग्राम उनके जैसे दूसरों के होते हैं हम दीनी प्रोग्राम ऐसा करें हमारे स्टेज ऐसे सजाएं और हम आसमान से कूद के स्टेज पर आए लोगों को बताने के लिए करोड़ों का हमारा स्टेज है और उसके अंदर हाँ पटाखे वगैरह हों और उसके अंदर से दाई हजरत बाहर आए और लोगों को अपनी तरफ रिझाने की कोशिश करें क्या है और दलील में हम ये कहें कि भाई वो लोग करते तो हम क्यों नहीं करें वो लोग वो लोग जो करेंगे हम वो करेंगे या वो हम करेंगे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा ने किया लिहाजा बाद अवकात दीन के तरीक़ार में दावत के तरीक़ार में बाद मुसलमान गैर मुस्लिमों में जो दावत देने के शौकीन होते हैं वो दूसरों को भी देखते हैं कि वो लोग कैसा देते हैं और उनको देखते देखते उनकी कंपटीशन में उनके तौर तरीक़े अपना लेते हैं बातिल से लड़ते लड़ते बाज अवकात आदमी खुद बातिल बन जाता है शर से लड़ने वाला बाज अवकात धीरे धीरे खुद शर का हिस्सा बन जाता है लिहाजा हमारे लिए तरीका किसका है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावत के उसूल बदलने वाले नहीं है सबीली अदरू हमारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबील की इतबा ज़रूरी है तो गैर मुस्लिमों की मुशाबहत अहल बातिल की मुशाबहत आप न करें खास तौर पर हमारे नौजवान जो दावत का दर्द रखते हैं वो उन, उनका तरीका ना अपनाएं वही तरीका अपनाएं जो हमारे असलाफ ने अपना है ठीक है टेक्नोलॉजी अगर आप नहीं आती है आप उसके ज़रिए से कुछ अब इख्तियार कर रहे हैं इसमें कोई हरज नहीं है लेकिन तरीक़ दावत उसूल दावत बाकी रहेंगे गैर मुस्लिमों की मुशाबत इसमें इख्तियार न करें पांचवी चीज जो नौजवानों को जिस पर ध्यान देना चाहिए वो इबादत का अहतमाम है एक नेक साल नौजवान कौन है जिसकी जिंदगी में इबादत का अहतमाम हो नमाजों का पाबंद हो खास तौर से फज्र की नमाज जवानी फज्र की नमाज की दुश्मन होती है इस उम्र में क्या होता है जिस्म आराम तलब होता है सेहतमंद होता है खास तौर से अगर ये जिम जाने वाला है तो अब शाम में जाता है जिम में जाके एक्सरसाइज करता है बदन टूटता है घर पे आके जो पड़ गया रात में और रात में जल्दी नहीं सो पाता है क्यों दोस्तों के साथ गपशप व्हाट्सएप का वजीफा जैसे कुरान की तिलावत है हाँ व्हाट्सएप की तिलावत और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत या वहाँ पे अगर दीनदार है तो व्हाट्सएप उसके लिए और फेसबुक उसके लिए एंटरटेनमेंट है दीनदार नहीं है तो और एडिशनल भी चीज़ें हैं उसके लिए यूट्यूब पे गाने सुनना फिल्में देखना ये वो करना और जो भी इंटरनेट है उसका इस्तेमाल करके आजकल तो क्या किया है लोगों ने आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपके मोबाइल में सारी दुनिया हाजिर है आप उसमें रात दो तीन बजे तक जब तक कि एकदम थक नहीं जाता है और जिसम भी कहने लगे बस ना आदमी का जिसम भी क्या कह रहा है फिर उसके बाद सो गया अब सोने के बाद जाहिर बात है जब तीन बजे हजरत सोए हैं तो पाँच छः बजे उठना ताज तो माफ है जवानी के लिए बुढ़ापे के लिए है वो जवानी भी थोड़ी ना है वो बुढ़ापे के लिए जब रिटायर हो जाऊंगा तब के लिए अब छः बजे मान लीजिए अगर फज रहे ये साढ़े पाँच बजे है अब क्या करेगा ये ढाई ढाई घंटे में उठ जाएगा क्या मजाक है कि उठे और किसी की मजा है उसको उठाए अब ये उठेगा कितने बजे दस से लेके ग्यारह बजे तक ग्यारह बजे उठेगा ये आम तौर से नौजवानों का मामूल होता है खसूस दुनियादार किस्म के जो नौजवान हैं बहुत से दीनदार नौजवान उठते हैं बराबर है लेकिन दुनियादार किस्म के लोग हैं नहीं उठते हैं फजर की नमाज सालों साल नहीं होती सालों साल नहीं आदमी सोचे फजर की नमाज उसकी पाबंदी से होती कि नहीं जवानी में होना चाहिए जवानी में ये होना चाहिए निकाह होने के बाद भी खास तौर से इसका अहतमाम होना चाहिए बीवी अगर चाहते हैं कि मुसलत ना हो तो फजर की नमाज दूल्हा पाबंदी से पढ़े उसको मालूम पड़े हाँ ठीक है कोई बात नहीं जाहिर बात है नया नया दूल्हा होता है उसके लिए फजर की नमाज मुश्किल है अब अगर वो फजर की नमाज नहीं पढ़ता है तो बीवी को ज्यादा आपके वीक पॉइंट की जरूरत नहीं है आप पे कब्जा करने के लिए आप पे गलबा पाने के लिए एक भी मिल गया बहुत है अब जब भी आप किसी चीज में उसको नसीहत करोगे हाँ फजर की नमाज पहले पढ़ो अच्छा अब इसको मालूम होता है कि अब मेरे पास भी कोई एक जहाज में सुराख है तो अब मैं उसको कब बोलूँ तो धीरे धीरे उसकी गलतियां वो हजम करने लगता है और इस तरह से आप भी चुप मैं भी चुप दोनों मिलके चुप चुप एक दूसरे को नसीहत छोड़ देते हैं याद रखिए इसको खास तौर से मैं नौजवानों को चूंकि अब बहुतों की शादी नहीं हुई है अगर आप चाहते हैं कि आप घर में बीवी के आगे चपरासी की हैसियत आपकी ना हो जाए तो आप नमाजों का खास एहतमाम करें नमाज आपके लिए ताकत है आपके हाथ में तलवार कब तक रहेगी जब आप नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे नमाज अगर पाबंदी से नहीं पढ़ सकते हैं आप बोलने लायक नहीं रहेंगे पार्लियामेंट पे आपकी सुनी नहीं जाएगी आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं रहेगी नमाज पाबंदी से होना चाहिए बराबर आती नमाज पढ़े नमाज में सुस्ती नहीं करे देवी को बोलने की ताकत उसके पास होती है नमाज दीन का नुमाइंदा है कयामत के दिन सबसे पहले किस चीज की पूछ होगी नमाज एक आदमी का अच्छा और बुरा होना नमाज पर मौकूफ है उसकी नमाज जैसी है वैसा वो है वो अल्लाह का बंदा नहीं है बाकी फिर क्या जिंदगी में खैर आएगी तो नमाज का एहतमाम करें और इसके साथ कुरान की तिलावत है रोज़ाना कुरान की तिलावत का एहतमाम करें कुरान के ज़रिए से दिल में खैर आती है एक एक हर्फ पर दस नेकियां एक एक हर्फ पर दस नेकियां जिक्र अजकार अजकार का एहतमाम करें सुबह शाम के अजकार और इसी तरह से सवारी घर से बाहर जाना इस्तिंजा खाना पीना लिबास डेली आदमी कितनी नेकियां छोड़ रहा है कितनी नेकियां जो आदमी कमा सकता है एक आदमी सोचे दिन में कितनी मरतबा बाइक पे बैठता है उसके अजकार आदमी पढ़ ले दिन में कितनी मरतबा आदमी यानी सुबह शाम कितने काम उसके ऐसे होते हैं जिसमें खाता है पीता है कितने लोग बिस्मिल्लाह तक नहीं बोल पाते हैं कितने लोग बिस्मिल्लाह नहीं बोलते हैं खा रहे वैसे ही उसमें शैतान शरीक होता है खाने में शरीक हाँ घर में आता है शैतान इसी तरह से हर एतबार से आदमी सिंजा जा रहा है हिफाजत नहीं उसकी हिफाजत होना चाहिए अदकार का अहतमाम करें दुआओं का अहतमाम करें दुआओं का अहतमाम करें खास तौर से शैतान से हिफाजत के लिए अल्लाह से दुआ करें अल्लाह मेरी निगाहों की हिफाजत कर जवानी में बहुत मसला है बड़ा निगाह की हिफाजत बहुत मुश्किल चीज़ है और निगाह निगाह जो है आदमी के दिल से कनेक्टेड होती है जहाँ आदमी की निगाह होती है वहाँ आदमी का दिल होता है जहाँ आदमी की निगाह होती है वहाँ दिल होता है और निगाह के रास्ते से आदमी के दिल में जहर शैतान घोलता रहता है कि दिल में दिल को जख्मी करता है निगाह के रास्ते रास्ते पे आदमी चल रहा है निगाहों की हिफाजत नहीं हो पाती है नौजवान दुआ करे अल्लाह मेरी निगाह की हिफाजत कर अल्लाह मेरी जुबान की हिफाजत कर अल्लाह हलाल दे हराम से बचा अल्लाह इबादत की दुआ करे आपकी दुआ के जरिए से क्या है दुआ एक एतबार से अल्लाह से तलब करना तो है लेकिन दुआ दूसरे एतबार से अपने दिल की सलाह है वो अपने आप को जहनी तौर पर आमादा करना है खैर से खैर के लिए और शर से अपने आप को बचाना है जब आदमी अल्लाह से मांगता है खैर तो उसके अंदर उसके अमल करने का जज्बा और नीयत पैदा होती है जब आदमी शर से बचने की दुआ मांगता है तो उसके अंदर शर बुरा है वो अपने आप को इसको ऑटो सजेशन कहते हैं अपने आप को बोल रहा है ये बुरा है ये बुरा है ये बुरा है इससे बचना चाहिए बार बार जब आदमी दुआ करता है तो आदमी की जहन साजी होती है और मेंटली प्रिपेयर्ड होता है लिहाजा ये अपने आप को रोजाना खुतबा देने की एक सूरत है दुआ क्या है अपने आप को नसीहत करने की एक सूरत है लिहाजा जो आदमी बार बार नसीहत उसको मिलती रहेगी वह आदमी नेकी करेगा बुराई से बचेगा दुआओं का एहतमाम करेगा दुआ खैर है तो इबादत का खास एहतमाम करें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस देखिए नौजवानों के बारे में भी उसमें जिक्र है उसकी फजीलत क्या है कि जवानी की उम्र में आदमी इबादत का एहतमाम करे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सब आयतुन युजिल्लुहुम युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिहि यौम ला ज़िल्ल इल्ला ज़िल्लुह सात चीजें हैं कि सात लोग हैं सब आयतुन जिनको अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने साय में जगह देगा जबकि कोई साया अल्लाह के साय के सिवा नहीं होगा क्यामत के दिन सात लोग अल्लाह ताला के अर्श के साय में होंगे बाद रिवायत में अल्लाह के साय से मुराद क्या है अल्लाह के अर्श का साया तो अर्श के साय में जगह चाहिए किसको नहीं चाहिए हर एक को चाहिए क़यामत का दिन आज देखिए हज के लिए आदमी जाता है सिर्फ धूप ही धूप और वहाँ पे कोई साहिबा ना हो तो कितनी तकलीफ होगी अगर वहाँ पे उन लोगों ने बना के रखे हैं कि यहाँ से जाएंगे मीना में जाएंगे रास्ते में जो है सफ़र के लिए उनको बीच में साहिबान कुछ थोड़ी देर के लिए सही धूप से बचने के लिए आप हजर के मैदान में आप देखिए कोई साया अगर आदमी का ना हो कितनी तकलीफ होगी उस दिन कुछ लोग खुशकिस्मत ऐसे होंगे कि जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श के साय में जगह देगा साया तो मिलेगा भी साया तो मिलना ही मिलना है लेकिन साया कौन सा हर्ष का साया रहमान का अर्श जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया रहमान अर्श सवा जो सबसे ऊपर अर्श है उस अर्श के साय में जगह मिलेगी सोचिए कितना खुशकिस्मत आदमी होगा जिसको अर्श के साय में जगह मिलेगी कौन कौन है कहा नंबर एक अल इमाम आदिल सबसे पहला कौन है अदल करने वाला इमाम मुसलमानों का हाकिम जो जुल्म नहीं करता है वो आदल करता है नंबर दो वह न नशाफी इबादत रबी ही दूसरा कौन है वो नौजवान जिसकी जवानी अपने रब की इबादत में परवान चढ़ी हो जिसने अपनी जवानी का दौर अल्लाह की इबादत में गुजारा बहुत मुश्किल है जवानी ख्वाहिशात की उम्र है जवानी सुस्ती की उम्र है जवानी लज्जतों की तलब की उम्र है जवानी आज़ादी और बगावत की उम्र है किसी की पाबंदी नहीं चाहिए इसलिए बच्चे तो सुनते हैं बाहर मत जाओ फौरन बच्चा उल्टे पाँव वापस आता है नौजवान जरा रोक इधर आ जा आया आया बोलता है लेकिन एक्टिविटी क्या है गया क्या है कॉन्ट्रडिक्शन आया आया बोल के गया तो ये जवानी है क्यों जवानी में नहीं सुनता लेकिन उस जवानी में अगर वो पाबंद हो जाए अल्लाह ताला का क्योंकि कितना नफ के खिलाफ मुजाहदा ये नफ़ के खिलाफ बहुत बड़ा मुजादा है जवानी पाबंदी नहीं चाहती इसलिए जितनी गवर्नमेंट गिराने वाले होते हैं वो नौजवान ही होते हैं उमूमन जिसने रेवोल्यूशन या डेवोल्यूशन जिसको आप कहें जो भी करने वाले होते हैं वो कौन होते हैं नौजवान आप नौजवानों को भड़काओ कोई भी सियासी तहरीक कामयाब हो जाती है कोई तहरीक आप देखिए इसमें जिसमें सब बूढ़े बूढ़े जमा हो गए कुछ तो करना है आपने को क्या करना है भाई दवाखाने में जाना है आपको क्योंकि आपकी उम्र ऐसी नहीं है कि आप कुछ कर सकते आप बात कर सकते हो रहबरी दे सकते हो आप इंटेलिजेंट हो लेकिन प्रैक्टिकली तोड़ फोड़ आप नहीं कर सकते आप वो नहीं कर सकते जवानों से जितने भी सियासतदान होते हैं तोड़फोड़ का काम करवाते हैं किसी को डिस्को सेट देकर किसी को क्रिकेट का सेट देकर किसी को कुछ और देकर नए नए कपड़े देकर घड़ी देकर उनको फिल्म के या इसके उसके टिकट देकर कुछ भी काम करवा लेते हैं जवानी की उम्र होती है तोड़ फोड़ वाली तो इस उम्र में पाबंद होना बहुत मुश्किल है लेकिन वो वो नौजवान कितना खुशकिस्मत है कि जिसको अल्लाह ताला इस बात की तोफीक दे दे कि वो अपने नफ्स के खिलाफ अल्लाह ताला की शरीयत का पाबंद हो जाए वो अपने सर को जमीन पे रखने वाला उसकी जुबान उसकी जुबान अल्लाह का जिक्र करने वाली हो उसके दिल में अल्लाह ताला की याद हो आखिर की फिक्र हो उसके अवकात कुरान की तिलावत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए अजकार के अहतमाम में गुजरती हैं वो सुबह शाम अल्लाह को याद करने वाला वो ज़िंदगी का मकसद याद करके जीने वाला ऐसी जवानी कितनी कीमती है इसका हशर क्या होगा इसको अल्लाह ताला अपने अर्श के साय में जगा देगा क़यामत के दिन वो आप देखिए पहले बादशाह बादशाह के साथ ये है यानी उसका उसका जो मकाम है वो बादशाहों के साथ ऐसा बादशाह नहीं जो लोगों के पैसे खा जाता है जालिम नहीं अयाश नहीं बल्कि वो बादशाह ऐसा इमाम ऐसा हाकिम जो आदल करने वाला इंसाफ पसंद हाकिम उस बादशाह के साथ उस हाकिम के साथ उस खलीफा के साथ ये होगा कितनी बड़ी इसको देख अपनी जात में कितनी बड़ी बादशाह तो इसने अपने आप को अल्लाह की इबादत का पाबंद किया अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसका हश्र आदिल बादशाहों के साथ करेगा तो इमाम आदिल व शाह इबादत रबी ही तीसरा वरजुल कल्ब मुल्लफिल मसाजिद तीसरा कौन है जो आज के साल में होगा वो आदमी जिसका दिल मस्जिदों में अटका हुआ उसका दिल मस्जिद से जुड़ा हुआ उसका दिल उसको शौक मस्जिदों का उसको पब का शौक ना हो उसको हाँ दूसरा शौक ना हो खेल तमाशे का शौक ना हो उसको रॉक शोज का शौक ना हो उसको ऑर्केस्ट्रा का शौक ना हो उसके दिल में शौक हो तो किस चीज का किस जगह जाने का शौक हो थिएटर का शौक उसको नहीं है किसका शौक है अल्लाह के घर में जाके उसको सुकून मिलता है उसका दिल अटका हुआ कहा मस्जिदों में वो मस्जिद से घर घर से मस्जिद घर से कामकाज में कामकाज से फिर घर पे कामकाज से मस्जिद मस्जिद से अपने कामकाज में ये उसका माहौल हो कि वो वाकई अपने आप को बुरी जगहों से बचाता हो और उसकी अमन की जगह मस्जिद हो वहां उसको सुकून मिले शराब खानों में थिएटर में नाच गानों की जगहों पर जाकर वो अपने जहन का सुकून तलाश न करे उसका सुकून कहाँ हो अल्लाह के घर पे और वरजुलानी सहाबा इजतमा व तफरका और वो दो आदमी कि जो अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले हों अल्लाह की मोहब्बत पर उनकी मुलाकात हो और अल्लाह की मोहब्बत ही पर एक दूसरे से जुदा हो अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाले फायदे नुकसान की बुनियाद पर नहीं रिश्तेदारी की बुनियाद पर नहीं खालिद अल्लाह के लिए ये भी आज के फायदे होंगे वरजुल तलबत इमरात मनसिबिन व जमा फ़काल इन्नी अकाफुल्ला ये भी नौजवान के साथ जुड़ता है ख़ास तौर से और ख़ास तौर से कॉल सेंटर वालों से ख़ास तौर से कॉलेज वालों से ख़ास तौर से उन लोगों से जिनका सबका औरतों से लड़कियों से बेहया लोगों से ज्यादा पेश आता है ड्राइवर्स जो फैमिली ड्राइवर हों बड़ा खतरा होता है उन लोगों के लिए वो आदमी जिसको एक औरत जो बड़े मकाम वाली हो और खूबसूरत हो ज़्यादा मनसिबिन बड़े घर की बड़े लेवल पे जीने वाली औरत बड़े खानदान की और खूबसूरत भी हो और ऊंचे घर की भी हो ऊंचे मर्तबे वाली हो ऊंचे मर्तबे की खूबसूरत औरत उसको जिना की दावत दे और ये क्या कहें तो इन्नी अकाफुल्ला मुझे अल्लाह का डर लगता है भाई मैं ऐसी हरकतें नहीं कर सकता जिना की बदतरीन आखिरी शक्ल क्या है आदमी जिमा कर ले और जिना के कुछ मुकदमात भी हैं जो जिना ही के हुक्म में आते हैं आंख भी जिना करती है दिल भी जिना करता है जुबान भी जिना करती है कान भी जिना करते हैं ये सारे जिना के हाथ भी जिना करता है पाँव भी जिना करते हैं दिल का जिना क्या है तमन्ना करना आंख का जिना देखना कान का जिना उसका सुनना आदमी के हाथ का जिना छूना पांव का जिना उस तरफ चलना आदमी अपने आप को जिना से बचाए आजकल इतना आम हो गया है ये कि वाकई पूरा जिना भी आसान हो गया है क्यों मगरब की वजह से आप देखेंगे वेस्ट की वजह से शादी का बंधन इतना जरूरी नहीं रहा तेरी चाक मेरी चाक बस खत्म गवर्नमेंट मना नहीं करती है हाँ ज़बरदस्ती अगर होगी ज़बरदस्ती अगर है तो केस लॉज कर सकते हैं ज़बरदस्ती नहीं तू भी राजी मैं भी राजी तो फिर क्या मसला है आज ये हालात हो गए और दहेज की रस्म ने इसको और ज़्यादा आसान कर दिया है निकाह को मुश्किल कर दिया है जिना को आसान और फिर लड़की का अपने पांव पर खड़े होने की चाहत और जॉब करना और निकाह को टालना पढ़ रही है पढ़ रही है पढ़ रही है जॉब कर रही है अपने पांव पे खड़े होगी फिर निकाह करेगी क्योंकि लड़के वालों को भी पढ़ी लिखी चाहिए और जॉब करने वाली चाहिए तो पढ़ रही वो कितने साल से पढ़ रही है पंद्रह साल बीस साल से पढ़ रही है अब निकाह उसकी उम्र दस साल के ऊपर हो गई है और निकाह अब तक कोई सूरत दिखाई नहीं दे रही है और उम्र उसकी ढलती जा रही है तो क्यों इंतजार करे भाई ये दोले का इंतजार क्यों करें जो ख्वाहिश उसके दिल में पैदा होगी ये ख्वाहिश ऐसी नहीं होती जैसे भोग प्यास है इंसान की वैसी ख्वाहिश नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा सख्त होती है और बाद अवकात जब मौका आता है पांव फिसल जाता है जब सारी अपनी जीनत के साथ बेहयाई सामने आती कोई लड़का अप्रोच किया उसके पीछे हो जाती हाँ कोका कोला पिए उसके बाद हाँ बर्गर खाए और इधर उधर घूमे फिल्म देखे एक बार उसके बाद अगला आसान होता है लड़कों को मालूम होता है क्या स्टेप्स है उसकी कभी लड़कियां होती हैं जिनके अंदर चाहत होती है अपनी तरफ घसीक लेती बेहद किस्म की होती है आज आसान हो गया तो एक वह आदमी है कि जिसको एक ऊंचे मर्तबे की खूबसूरत औरत जिना की दावत दे और ये कहे नहीं मैं अल्लाह से डरता कानून से नहीं कंप्लेंट से नहीं लोग देखेंगे नहीं किससे डरता हूँ उसको उसके दिल में अल्लाह का डर हो कोई देखे ना देखे कौन देख रहा है अल्लाह देख रहा है और अक्सर इस तरह की जो जिना है याद रखिए वाकई जिना की नौबत डायरेक्ट नहीं आती कोई आके फौरन नहीं बोलता है मेरे साथ जिना करो उसके लिए मुकदमात होते हैं और उसके लिए बहुत बड़ा जरिया जो है आज बना हुआ क्या है फेसबुक आप जाके तलाश करो आपको डिटेल्स मिलेंगी कितने निकाह और जिंदगियां बर्बाद हुई फेसबुक की वजह से बाद लोग जब उसकी बुराई करते हैं तो बोलते हैं इसमें फायदे भी तो हैं दीन का भी काम करते हैं अरे खास दीन का काम करते हैं ठीक है उसमें फायदा है अपनी जगह है लेकिन उसका गलत इस्तेमाल बहुत बड़ा हुआ है और बहुत सारे लोग वो गलत इस्तेमाल भी करते हैं धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमदर्दियाँ एक दूसरे की बढ़ती हैं और उसके बाद दोस्ती बढ़ती है और दोस्ती के साथ आपस की ज़िंदगी के मामला शेयर करने लगते हैं फिर मुलाकात का मौका आता है उसके बाद मुलाकात अगला मरहला हमवार करती है और कितने लोग हैं जिस जिनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई शादीशुदा औरतें फेसबुक के ज़रिए दोस्त बना दोस्त बन के शोर बहुत लेट आता है ध्यान नहीं देता है मीटिंग्स में रहता है टूर पे रहता है इसको कोई चाहिए जो उसको हमदर्दी दे तो फेसबुक पे हमदर्द मिला और फिर उसके बाद मुलाकात हुई चलो कॉफी पे मिलते हैं हाँ कोका कोला पीते हैं पिकनिक पे जाते हैं होते होते होते जिना और फिर एक बार हुआ तो फिर उसने कहा और एक बार होना चाहिए इसने कहा नहीं उसने कहा मेरे पास फोटो है तुम्हारी मेरे पास क्या है तस्वीर अब ये मजबूर हो गई अब इस तरह की जिंदगी बर्बाद हो गई और उसने जब जब उसका दिल भर गया शोहर को भेज दिया सब कुछ न इधर के रहे ना उधर के रहे यह हाल अक्सर हो रहा है कॉलेज की लड़कियां हैं कॉल सेंटर की बच्चियां हैं आप देखिए कितना कितने ही बहुत बड़ा कितना है अपनी जाती जिंदगी शेयर न करे इतना बेवकूफ हो इंसान और इतनी बेवकूफ हो लड़की तो जरूरत क्या है कि अपने फ्रेंड सर्कल में लड़कों को जमा करें और लड़के को जरूरत क्या है तो मैं दावत देता हूँ क्यों दावत देता काला को दावत दिया तेरी वो भी तो है ना बेचारी उसको कभी दावत दी नहीं लेकिन फ्रेंड को दावत दे रहा है क्यों क्या जरूरत है तो ये ऐसे जितनी फ्रेंडमिया हैं बचे इनसे और लड़कियां भी जो हैं बचे लड़कों को फ्रेंड नहीं बनाए क्यों उससे आपस में इंटीमेसी पैदा होती है चाहे वो इंटरनेट पर हो और इससे बहुत बड़े कितने वजूद में आते हैं देखिए कुछ नहीं तो नहीं एक औरत की अफेक्शन अगर एक मर्द से हो जाए वो अपनी बीवी के साथ उतनी लज्जत उसको नहीं आएगी जिंदगी में और इसको अपने शोहर के साथ वो नहीं मिलेगा देखिए बड़ी बड़ी सुनहरी और हरी भरी बातें करना बहुत आसान होता है शोहर बेचारा वाकई जिम्मेदारी अदा करता है उतना प्यार से बात नहीं कर पाता है लेकिन वो जो फ्री में दोस्त बना हुआ है प्यार से बात करेगा क्योंकि शिकारी जो मछली पकड़ने वाला होता है बहुत आहिस्ता से काम करता है तो वो बोलेगा कैसे हैं क्या है आजकल बहुत गमगीन हो क्या मसला है मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया ऐसा ऐसा मसला था जिंदगी में ऐसा होता रहता है यूं है तू है हमदर्द है कुछ होगा तो बताओ कभी भी मैं हमेशा हूँ तुम्हारा दोस्त हूँ एकदम हमदर्द वो अपनी बीवी के लिए नहीं करेगा अपने बाप माँ के लिए बहन भाई के लिए नहीं करेगा लेकिन उसको जो उसका प्रे है उसका जो शिकार है शिकार के लिए वो बराबर एकदम मिस्टर परफेक्ट बन जाएगा और इसी तरह से लड़कियां याद रखें इंसान चाहता है कि परफेक्ट हमदर्दी करने वाला उसका भला चाहने वाला कोई हो लेकिन कोई इंसान परफेक्ट नहीं है इसलिए शादीशुदा जिंदगी में बाज़ात उन्नीस बीस होता रहता है अब जब जिंदगी घर के अंदर इस तरह का माहौल बनता है तो निगाहें खिड़की के बाहर जाती है निगाहें खिड़की के बाहर जाती हैं फिर फेसबुक में कोई ना कोई हमदर्द इंसान कहीं से कोई हो जो मुझको बचाए मुझको वो दे जो मुझको चाहिए इसको शोहर से नहीं मिल रहा उसको बीवी से नहीं मिल रहा तो अब क्या होगा बाहर जब कोई हमदर्द मिलेगा अब शोहर के साथ बात करने को जी चाहेगा उसका नहीं क्यों इससे बात करके क्या मिलता है कड़वी कसीली बातें करता है और मेरी बात का ठीक से जवाब भी नहीं देता है वो उससे चैट करती बैठेगी और शोहर भी घर पे जब भी आओ तो बिल सामने रख दिए ये खर्चा करना है वो लाइट का बिल आया और बच्चों की फीस भरना है और ये करना है और कड़वी कड़वी बातें करती है ठीक से ढंग से बात भी नहीं करती है उसका दिल अब बीवी से नहीं अब उसका दिल किससे लगेगा बाहर जो उसकी सहेली है उससे चैट करके उसको वो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन अफेक्शन मिलेगा जो उसका दिल चाहता है और आज आप देखेंगे कि इंसानों की अक्सरियत का हाल ही हो चुका है कि उनकी जिंदगी वर्चुअल फैमिली में तब्दील हो चुकी है वो अपने खानदानों में नहीं ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम ही है वो अपने अपने घरों में नहीं है वो अपने घरों में है लेकिन उनकी फैमिली बाहर है वो इंटरनेट की फैमिली में जी रहा है उसको बाहर सुकून मिलता है मिल के बात करने में सुकून नहीं मिलता है किसी के साथ बैठने में सुकून नहीं मिलता है उसको सुकून क्या भी मिल रहा है टाइप करने में और मैसेजेस पढ़ने में ये हमारी जिंदगी बन चुकी है तो याद रखें इससे बचें इससे बचें अपने घरों में खुश रहें जैसे भी है बीवी आपकी आपके कपड़े धोती है हाँ बर्तन मांजती है खाना पका के आपको देती चाहे कभी कभी नमक कम हो जाता हो शक्कर ज्यादा हो जाती हो है ना वो बीवी उसका ख्याल रखती है शोर जैसा भी है कड़वी बात करता है लेकिन आपको नहीं मालूम वो ऑफिस में जाके कितने धक्के खा रहा है और कितनी मुसीबतें उठा रहा है वो आपके सामने नहीं बोलेगा किसके सामने बोलेगा वो एकदम सिर्फ मीठी मीठी बात करेगा वो फ्री और फ्रैंक है उसको आप एक्सेप्ट करिए वो झूठी जिंदगी नहीं जी रहा है वो सच्ची जिंदगी जी रहा है वह आपके लिए गधे की तरह मेहनत कर रहा है वाकई इतनी मेहनत करके आता है वो पसीना बहाता है वो उसकी कदर कीजिए जो बैठ के इंटरनेट पे आपके साथ प्यार भरी बातें कर रहा है और एक आध गजल रोजाना भेज रहा है आपको उसके चक्कर में धोखे में मत आइए वो गजल की हैसियत तक का है लेकिन ये इसकी जिंदगी पूरी गजल बनी हुई है सुबह से शाम तक गजल बना हुआ ही इतनी मेहनत करके ला रहा है वो फाइट कर रहा है वो ट्रैफिक जाम में कब घर पे पहुंचता उसका वो चाहता है उसकी ज़िंदगी परेशान है लेकिन वो आपके साथ वफादार है बीमारी में आपके दवाखाने वो आएगा वो दोस्त नहीं आएगा याद रखिए आपके बिल बोलो दोस्त को भरने के लिए जितने फ्रेंड हैं या फ्रेंडियाँ जितनी भी हैं आप जब भी बीमार हो या कुछ घर में आपके वालिद का भाई का दोस्त का किसी का भी कुछ हो जाए आप उसको कहें बिल इतना आया है एक लाख दो लाख आया है करेगा वो मैं आपको अपना दिल दे सकता हूँ बिल नहीं मेरा दिल हाजिर है दिल की बात मुझसे मत करो दिल की बात करो समझ में बात हकीकत पसंद जिंदगी गुजारी है ये जो इंटरनेट के फितने हैं बहुत बड़ा मसला है इससे बचिए तो कई जिंदगियां वो औरत अभी इसमें क्या है एक मनसब वाली औरत और एक खूबसूरत औरत अपने आप को पेश करे जिना के लिए और ये नौजवान कहे इन्नी अकाफुल्ला नो थैंक यू नहीं क्योंकि वो जिंदगी की बर्बादी का पहला दिन होगा उसका पहला दिन होगा और नौजवान तो इतना मुतकी हो परहेजगार हो वो मुसाफा भी ना करे हाँ कैसे कितने पुरा, पुराने जमाने के लोग हैं हाथ भी नहीं मिलाते नहीं मिलाते हाथ से हक तक जाएगा गले मिलो और वो आगे तक जाएगा चूमने प्यार करने तक जाएगा और आगे कहाँ तक जाएगा मालूम नहीं हम दूर रहते हैं नो थैंक यू नहीं होना चाहिए उसका दिल तोड़ना इतना बुरा नहीं जितना अल्लाह की शरीयत तोड़ना वो नाराज हो जाएगा इतना ख्याल है उसका और अल्लाह नाराज होगा उसका नहीं तो फिर तो, तो कौन है मुसलमान तो कैसा है नहीं का मतलब नहीं उसको आप कुछ भी बोलिए भाई आपसे आपका वॉलेट अगर मांग ले कोई तो आप देंगे दे दो मेरे को नहीं देंगे आप नो थैंक यू बोलेंगे ना आप आपका credit card debit card credit card तो बचे इससे डेबिट कार्ड अगर कोई मांग ले आपका पूरा और उसका नंबर भी मांगे आप देंगे नहीं देंगे आप उसको क्यों देखिए नहीं भाई नहीं दे सकता मैं तो कहीं ना कहीं आदमी को थोड़ा क्या होना पड़ता है कड़वा होना पड़ता है कड़वा होना पड़ता है तो क्यों ना आप शरीयत की वजह से कड़वे हों दुनिया की वजह से नहीं हम आप अच्छे अंदाज आप थोड़े टैक्टिक्स चलाओ जरा पढ़ो कुछ किताब ऐसी <laughs> जिससे आप अपनी जान बचा सकें नो थैंक यू वाली कोई किताब आप पढ़िए अपने आप को कैसे आदमी बचाए लेकिन आदमी शरीयत को नहीं तोड़े जिना का रास्ता बहुत आसान हो चुका है आज और मीडिया ने उसके लिए बहुत आसानियां पैदा कर दी है तो एक तो वो है फिर वरा जुलून तसदका तसदका अफ हत्ता शिमालू मातुन पिकुयमी और वो नौजवान वो शख्स वो शख्स जो सदका करे और इतना छुपा के दे कि उसके बाएं हाथ को मालूम न पड़े कि उसके दाएं हाथ ने क्या दिया है यानी एक बोलने का अंदाज है कि इतना इख्फा हो कि किसी को मालूम ना हो छुप छुपा के दे ये भी आदमी क्या होगा हसर के अंदर अर्श के साय में होगा जो छुपा के सदका करता छुपा के सदका करें और सदका करके छुपाए दोनों काम होना चाहिए बाद अवकात पहला तो होता दूसरा नहीं होता छुप छुपा के देखता और किसी ने देखा नहीं तो बाद अवकात दिल में बेचैनी पैदा होती है तो फिर जुबान से बयान करता है जो छुपा के किया था ऐसा भी नहीं होना चाहिए अपनी छुपा के की हुई नेकियां आपकी जिंदगी की सबसे कीमती ने किया है वो आपके बैंक का एटीएम का पासवर्ड है किसी को देता आदमी नहीं देता उसको छुपा के रखिए जैसा आपकी अपनी जिंदगी की बाद चीजों को आप छुपा के रखते हैं छुपा के रखिए और वरजुल जकर सातवा कौन है वो आदमी जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े कि इंसान की तन्हाइया अल्लाह के साथ ताल्लुक के साथ मामूर होनी चाहिए हम सोचें हम कितने अल्लाह वाले हैं इसका एक पैमाना ये भी है कि हमारी तन्हाइयां अल्लाह के साथ जुड़ी हुई हैं कि नहीं अगर नहीं तो हमारा अल्लाह से ताल्लुक वैसा नहीं जैसा होना चाहिए तन्हाई में आदमी अल्लाह को याद करे बिस्तर पर लेटा हुआ है आदमी सोचे मेरी जिंदगी कहाँ जा रही मेरा अल्लाह के साथ ताल्लुक क्या है मैंने आज कितने गुनाह किए आज मैंने कितने अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा मैं अपने आप को अल्लाह के और करीब कैसे करूँ और फिर सोचते सोचते उसका ये गौर व फिक्र दुआ में तब्दील हो जाए कि अल्लाह जो भी कोताही भी माफ़ कर दे अल्लाह उसको दीनदार बनने की तोफ़ी दे अल्लाह मैंने तेरे बहुत हुक्म तोड़े हैं अल्लाह लेकिन तू माफ़ नहीं करेगा तो कौन माफ़ करेगा तेरे और मेरा कोई सहारा नहीं होते होते होते उसकी जो है गौर फिक्र दुआ में तब्दील हो गया और फिर ये दुआ करते करते उसकी आंखों से आंसू निकले दुआ करते करते किसी को नहीं मालूम ना कोई आवाज़ है न कोई शोर शराबा है बल्कि तन्हाई में बीवी बाजू में लेटी हुई है वो खराटे ले रही है शोहर बाजू में लेटा हुआ है वो कराटे ले रहा है मसलन औरत भी हो सकती है ना और वो अकेले में तना अल्लाह कामकाज में इतना बिजी हो जाती हूँ कितने दिन से तिलावत नहीं हो पाई अदगार का एहतमाम नहीं हो पाया अल्लाह मैं कितना चाहती हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है अपनी कोताही को याद करके और अल्लाह ताला की आजमत को याद करके क्यामत के दिन के अहवाल को याद करके कब्र को याद करके इंसान इंसान रोए उसकी आंखों से आंसू निकले चाहे एक आंसू क्यों ना हो वो एक आंसू आसमान और जमीन से ज्यादा कीमती है वो एक आंसू बहुत कीमती है कि जो अल्लाह ताला को याद करके आंख से निकला उसका बाइस अल्लाह ताला के आगे जवाबदेही का एहसास हो ये आंसू बहुत कीमती है और उस एक आंसू के नतीजे में क्या मिल रहा है उसको अर्श के सारे में जगह मिलेगी भाई तो मामूली बात है कि आंखों से आंसू इस वजह से निकल जाए अल्लाह की वजह से अर्श के साय में जगह मिलेगी तो आपने अपनी तन्हाइयों को अल्लाह ताला की याद से मामूर रखे अकेले में जब भी हो वो अल्लाह ताला के आगे रोए आदमी अकेले में रहता है कल क्या करना है पिकनिक पे जाना है जॉब पे जाना है कल फुला के पैसे देने हैं फुला जगह पैसे भरने हैं फुला से अपना जो है बिजनेस में पैसा वसूलना है और कल ये हो गया वो आदमी क्या है ठीक है वो भी अपनी जगह उसकी अहमियत है लेकिन इसी में आदमी अपनी ज़िंदगी के उन औकात को जो सबसे कीमती आदमी की तन्हाइयां बहुत कीमती है आदमी का जो प्राइवेट टाइम है जिसमें कोई नहीं उसके साथ वो अकेला उन औकात में अगर उसके साथ अल्लाह ना हो तो फिर क्या फायदा है उन औकात में थोड़ा ही सही आदमी अपने आप को किससे जोड़े अल्लाह ताला तो नौजवान उसके सामने बहुत सारे एम्बिशंस होते हैं और इन्हीं में वो खोया रहता है अल्लाह से जुड़ नहीं पाता अल्लाह से कनेक्ट नहीं हो पाता डॉक्टर कहते हैं रोना भी बहुत ज़रूरी है तो रोना भी बहुत ज़रूरी है अगर आदमी रोने वाला नहीं हो तो उसके अंदर जो है उसके जहन में साइकोलॉजिकल गार्बेज जमा हो जाता है तो जो कचरा है वो कचरा आदमी के रोने से बाहर निकलता है जो इमोशनल गार्बेज उसका है जो नफ्सियाती कचरा उसके जहन में जमा हो जाता है ये रोने से आदमी के अंदर से निकल जाता है इसीलिए जो आदमी रोता है उसको खुलापन महसूस होता है जब आदमी रो ले अच्छे से एकदम पेट भर के रो लिया दिल भर के रोया एकदम जीव भर के एकदम रोया उसके बाद कैसा लगता है एकदम आदमी एकदम लाइट महसूस करता है क्यों इसलिए कि उसके जहन में बहुत सा ट्रैफिक जैम हो चुका था अब क्या हो गया एकदम गाड़ी फर फर चल रही एकदम क्योंकि जैम खत्म हो गया इसलिए रोना सीखिए इसलिए बच्चा पैदा होता है तो पहले क्या करता है पहला लेसन क्या है रोना कुछ भी चाहिए तो क्या करना रोना ये अल्लाह की तरफ से सिखाया हुआ वन पॉइंट फॉर्मूला है कुछ भी चाहिए रो भूख लगी रो पेशाब पागा ना रो पेट दर्द हो रहा है रो लेकिन बदकिस्मती से हम बाप की उम्र में ये भूल जाते हैं अल्लाह के आगे रोना भूल जाते हैं ये ये वो चीज है जिसके जरिए से अल्लाह देता है रोना सीखे अल्लाह के आगे और रोते भी हैं तो किसके सामने सारी दुनिया के आगे रोते हैं अल्लाह के आगे जहाँ रोना से तो ही नहीं रो पाते हैं तो तन्हाइयाँ अपनी सारे गांव को जमा करके भी रोना नहीं वो शिया करते हैं नकली रोना ये रोने ऐसे नहीं नकली रोने झूठ के साथ रोने नहीं अकेले में तन्हाई में दुआ से चाहे हाथ उठा के हो या ना बिस्तर पे करवट पर है और आंसू यहां से निकले कान तक जाए कान में चला जाए ऐसा रोया आदमी रोए अल्लाह के आगे ये होना चाहिए तो आदमी को चाहिए कि तन्हाइयों में अल्लाह के आगे रोने वाला वो हो ये सारे लोग जिसने मैंने बताया ये कहाँ होंगे क़ियामत के दिन अब आदमी देखे मेरी जिंदगी में अगर ये सातों चीजें हैं इमाम तो नहीं बनेगा बेचारा मुसलमानों का बड़ा विचार बनने से तो रहा अल्लाह ताला चाहे तो मालूम नहीं लेकिन बाकी चीज़ें जितनी भी हैं बहुत सारी चीज़ें वो सब की सब जमा कर सकता है तो एक कबूल नहीं हुई तो दूसरी तो होगी तो आप ये ना करें मैं रोता बाबा हाँ रोता बाकी नहीं भी रहा तो चलता ऐसा मत करें उसका रोना नकली हो तो अल्लाह ताला कबूल ना करे तो कितनी मुश्किल है रोने वाला हो सदक़े करने वाला हो और पाक दामन हो जीना की सूरतों से बचता हो और अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाला हो मस्जिदों से अपने आप को जोड़े रखे और जवानी की उम्र में इबादत करने वाला अगर इतना ही होता तो बहुत सारे बुजुर्ग बोलते हैं हमको बुढ़ापे में मालूम पड़ा आप क्या करना गरीब आदमी कोई है तो कहेगा मैं तो नहीं खर्च कर सकता हूँ इलाफी तो ये सारी सूरतें हैं जिसमें माल और तकवा और इसी तरह से निगाहों की हिफाजत और दिना से बचना और बहुत सारी सूरतें हैं आदमी जितना जमा कर सकता है अपनी जिंदगी में इन सूरतों को जमा करे ये कहाँ होगा क्यामत के दिन अर्ज के साय में इसको इमाम बुखारी मुस्लिम ने रिवायत किया है तो याद रखें कि जवानी के बारे में क्या कहा वो शाहबुलनशाफी इबादत रबी ही वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में परवान चढ़ी हो जिसने अपनी जवानी में अल्लाह की इबादत की हो बहुत कीमती वक्त है बुढ़ापे में बाद अवकात जवान आदमी इबादत करने वाला बनता है लेकिन लंबा रुकू कर सकता है नहीं पीठ दर्द होती है लंबे क्याम नहीं कर सकता है बैठ के नमाज पढ़ना पड़ता है ज्यादा तिलावत कर सकता है हलक सूख जाता है आँख ठीक नहीं है सर दर्द करने लगता है तो आदमी बाद अवकात बुढ़ापे में बहुत सारी नेकियां करना चाहता है लेकिन जिसम साथ देता है नहीं जवानी की उम्र को गनीमत जाए और मुश्किल नहीं है मुश्किल नहीं आप बस में जाते हैं कंपनी के लिए आपका आधा से एक घंटा उसमें जाता है आप बाइक पर जा रहे हैं कहीं पे पैसा वसूलने के लिए कंपनी का आपकी दुकान का आप बाइक के ऊपर आप जिक्र नहीं कर सकते आप जिक्र करें आदमी बस दुकानों के बोर्ड देखता जाता है आप देखिए उमूमन गाड़ी में आदमी क्या करता है ये दुकान वो दुकान उसका नाम उसका नाम क्या है ये आपकी जिंदगी में अगर मान लीजिए साल में आप रोजाना एक घंटा जाने में एक घंटा आने में साल में कितने घंटे हुए दो हाँ बोले तो नहीं रोज के दो घंटे साल के कितने हुए मान लीजिए आप तीन सौ पैंसठ दिन नहीं जाते हैं मान लीजिए आप सिर्फ दो सौ दिन जाते हैं कितने घंटे हुए चार सौ घंटे तो चार सौ घंटे बीस दिन के बीस घंटे का दिन पकड़ के चलिए कितने हो नहीं आता पैसे का बोलो तो चल दिया बीस लगातार बीस दिन यानी इतना वक्त आपका ऐसी वेस्ट होगा बीस दिन आपकी जिंदगी के जीरो वो खाली बोर्ड देखने में जा रहे पेड़ हाँ नीला यहाँ पे रास्ता बन रहा ये बोलो ये नई दुकान खुली ये नया मॉल खुला यही क्या हासिल है कुछ उसका तो आपकी जिंदगी के साल में साल में बोल रहा हूँ जिंदगी की नहीं साल के बीच इतने घंटे आपके 200 यानी साल में इतने दिन आपके 400 घंटे आपके यूं ही जाते हैं और जो आदमी दिन भर गाड़ी पे रहता कलेक्शन के लिए उसका तो क्या हाल है बताइए क्या सुबहान अल्लाह या कोई सोए पढ़ सोड़ा पढ़ रहा है या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ रहा है या इस्तफार कर रहा है उसकी जिंदगी वो चल रहा है गाड़ी पे लेकिन ये जिंदगी चल रही काउंटर चल रहा है उसका ये आसान तरीका है आसान तरीका है कितना कितने ऐसी मजालिस आदमी की होती हैं डॉक्टर के यहाँ बैठा है बीस नंबर मेरे पहले बीस के उन्नीस हुए उन्नीस के वो गिनता रहता है जिक्र करता रहे भाई जिक्र कर मोबाइल में कुरान है ना तेरे पास मुसहब खोल के पढ़ मुसहब खोल के पढ़ वजू नहीं है अरे उसके ऊपर स्क्रीन गार्ड लगा ऐसा जो डिटैचेबल हो उसको छुएगा तो भी मसला नहीं है बहुत डर लगता नहीं मालूम नहीं सही है कि नहीं ठीक है ऐसा मोबाइल है जिसको पेन से तू ये कर सकता है स्टिक से कर सकता है पढ़ रोजाना कितना कुरान पढ़ सकता है औकात अपने ज़ाय मत कीजिए औकात अपने ज़ाय मत कीजिए कितना वक्त आदमी बचा सकता है अलग से जिक्र बैठ के करने को नहीं मिलता ना आपको नहीं बहुत बिजी जिंदगी आपकी किसी की जिंदगी इतनी बिजी नहीं है कि वो अल्लाह को याद न कर सके दुनिया का कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जिसकी जिंदगी औरतें घर के अंदर हैं रोटी बनाओ ये करो वो करो क्या है गाने गुनगुनाने से अच्छा जिक्र कर आटा गूंदने में कितना वक्त लगता है कम से कम दस मिनट तो लगते हैं वो दस मिनट जिक्र कर प्रॉब्लम क्या है आप ही करना नहीं चाहता है कौन इतना करेगा सब्जी तरकारी खाना बना रही किचन में कम से कम दो घंटा जाता है औरतों का दो घंटा जाता कि नहीं जाता जाता है वही दो घंटे वापस उसकी वही गाड़ी वाले के तो लेकिन उसके तीन सौ पैंसठ है उसके जॉब पे नहीं है वो ये अल्टीमेट जॉब है उसका जिंदगी भर का बीमार रही तो भी उठ के बनाना पड़ता खाना उसका साल के तीन सौ पैंसठ दिन अगर वो रोजाना दो घंटा खाना बनाने में जा रहा मिनिमम पकड़ के चल रहा हूं मैं जिसमें और कोई सेकेंडरी एक्टिविटी नहीं है खाली बनाना बस हांडी देखते रहना उसमें अगर वो दो घंटा अगर साल में तो साल में तीन सौ पैंसठ के दोगुना कितना होता है हाँ, सात सौ तीस आप सोचिए और उसके अलावा कितने पाए रोजाना लेटते वक्त में आप लेटे हुए हैं घड़ी का काटा देखने से अच्छा बहुत से लोगों की एक्टिविटी क्या होती है घड़ी देखते रहते हैं एक बजा दो बजा तीन बजा इस तरह से वक्त गुजारते हैं आप सोते वक्त में आपको कम से कम आधा घंटा आपको लगता है सोने में कई लोगों को ज़्यादा भी लगता है आप उस दौरान में जिक्र कीजिए जो सूरतें आपको याद हैं उनका अदा आप कीजिए कितना कितनी इबादत आदमी कर सकता है ये इबादत आसान तरीका है ये नहीं कि बावजूद होटे होके जा नमाज बिछाया और आप किबला रुख होके आप बैठे नहीं होता आपसे ठीक ये तो हो सकता है ना तो कोई आदमी नहीं कर सकता ऐसा नहीं लिहाजा आप अपने औकात को सही इस्तेमाल कीजिए चलते फिरते में जो औकात आपके ज़ाय हो रहे हैं एक एक दिन आपका जा रहा है आज का दिन गया आप सोचिए आपने कितना जिक्र किया आज आज कितना जिक्र किया आप सोचिए काश के आप वो औकात जो आपके जा रहे हैं उसी में कर लेते तो आपकी उतनी नेकिया हो जाती ठीक है कल से करूँगा आज का दिन वापस नहीं आएगा आपके आज का दिन जो गया वापस आने वाला नहीं लिहाजा इन औकात को सही ढंग से इस्तेमाल करें और उसका फायदा क्या है एक आदमी मिसाल के तौर पर जिक्र कर रहा है औरत को देखेगा वो सुखान अल्लाह सुखान अल्लाह करेगा किसी और को देखेगा उसकी निगाहों की हिफाजत हो जाएगी क्यों मैं जिक्र कर रहा हूँ मैं जिक्र कर रहा हूँ तो एक आदमी जब जिक्र मुसलसल करने वाला हो जाता है वो कई खुराफात जिक्र कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और किसी की गिबत भी करेगा अल्हम्दुलिल्लाह करके गिबत करेगा नहीं बचेगा गाली देने से बचेगा उसके हाथ के नीचे दस आदमी काम कर रहे हैं और जिक्र करते करते किसी को गाली देगा हो नहीं तो ये एक ऐसी नेमत है कि इसके साथ साथ आदमी कई और खुराफात से बच सकता है इसका एहतमाम करिए इसका एहतमाम करिए अल्लाह मुझको भी तोफ़ी अदा फरमाए नंबर छ नौजवानों के लिए अच्छा नौजवान वो है जो दीन के फरोग के लिए भी अपनी सलाहतों को इस्तेमाल करें आलमी सतह पर हो या अपने दायरे में हो और ख़ास तौर से आज टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से एक आदमी आलमी सतह पर भी अल्लाह का पैगाम पहुंचाने की इस्तात रखता है उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पुराने ज़माने में एक आदमी मक्का में है उसको अगर चीन वालों को दावत देना है तो मक्का से चीन जाना पड़ता था उसको आज वो जरूरत नहीं रही आज आदमी मक्का में है वो चीन वाले को मक्का में बैठे बैठे और चीन वाले के साथ जापान को और अफ्रीका को अमेरिका को यूरोप को और हिंदुस्तान को और न जाने कितने मुल्कों को हर दुनिया के किसी भी खत्ते में अपना पैगाम पहुंचा सकता है मीडिया के जरिए अच्छा उसको किसी और जगह जाने की भी जरूरत नहीं है अपने बिस्तर पर पड़े पड़े वो मीडिया के इस्तेमाल से इतना छोटा मोबाइल है उसके जरिए से पूरी दुनिया में अल्लाह के दीन की बात को आम कर ओलमा के अकवाल ओलमा की बातें ओलमा के खिताबात कुरान करीम के ऑडियो अहादीस के ऑडियो ऐसे इकतबास जो मोतबर किताबों से हों मोतबर ओलमा की बातें हों इनको आम कर सकता है हो सकता है कि आपकी एक छोटी सी बात किसी एक आलिम का कौल आपने नकल किया कोई एक छोटी सी हदीस थी एक आयत थी आपने किसी को भेज दी और हो सकता है उस दिन वो कोई बहुत बड़ा गुनाह करने वाला था और आपने वो हदीस या वो आयत या वो हिकमत की बात उसको भेज दी और उस आदमी ने उसको पढ़ा और अपने गुनाह का इरादा मुआखर कर लिया कौन जरिया बना इसका हो सकता है कोई आदमी इतना मायूस हो चुका था कि खुदकुशी करने का सोच रहा था और आपका मैसेज उसको पहुंचा और वो मैसेज उस, उसने पढ़ा और उसमें अल्लाह की रहमत की उम्मीद की बात थी और पढ़ के उसके अंदर हिम्मत आई सब्र की हदीस उसने पढ़ी हिम्मत उसके अंदर आई और देखते हैं जो भी होगा और उसने खुदकुशी कैंसिल कर दी हो सकता है कि नहीं हो सकता है कितने लोग दुनिया में मुख्तलिफ हालात में होते हैं आपकी कोई एक बात किसी की जिंदगी में तब्दीली ला सकती है ये आदमी दावत के लिए इस तरह से खैर के काम में शरीक हो सकता है उलमा के कितने सारे बयान हैं आप एक लिंक किसी को भेज दिए वो आदमी उसको सुन ले उसकी ज़िंदगी बदल सकती है कोई आदमी बिदात में पड़ा हुआ है कोई आदमी शिरक में पड़ा हुआ है आपकी बात सुनकर आपकी बात उसको पहुंची वो आदमी सही ज़िंदगी उसकी बन जाए इसका दूसरा पहलू क्या है आप मैसेजेस की गन मशीन चलाना शुरू करें एक आदमी ये भी नहीं करना इससे भी बचिए एक आदमी मोबाइल रखा आपने मैसेज भेजा उसको उठाया पड़ा फिर रखा फिर मैसेज फिर रखा फिर मैसेज ऐसा भी मत कीजिए कि आपके मैसेज की कीमत खत्म हो जाए दिन में आप तीन सौ पैंसठ मैसेज एक दिन में भेजते हैं अगर तो आपके मैसेज की कीमत नहीं रहेगी दिन में आप एक मैसेज भेजते हैं आपकी मैसेज की कीमत रहेगी और बराए करम ओलमा को मत भेजिए ओलमा को मत ओलमा को भी तो जरूरत है ना है लेकिन उनके पास दूसरे सोर्सेज हैं आज बहुत सारे लोग का हाल क्या है इतने मैसेजेस के अब एक ने मैसेज क्या भेजा मुझको भेजा फोटो भेजा एक अब देखिए कैसे कैसे मैसेज होते हैं फोटो पे क्या है इंसान का ढांचा बना हुआ कोई तो मेडिकल मसला होगा उसके अंदर लिखा हुआ क्या है आदमी के बदन में 360 रगे होती हैं कितनी भी मालूम नहीं उसको भी याद नहीं है 360 रगे आदमी के बदन में होती है सिर्फ बीवी को मालूम होता है कौन सी नस दबाना है मतलब क्या मतलब बत, क्या बत, बताना क्या चाह रहा है भाई अब ऐसे मैसेज अब मैं अगर अपने ही मैसेज सिर्फ बताना रहा आपको तो आपका पेट दुखना शुरू हो जाएगा इतने सारे मैसेज न जाने ऐसी और बॉल कहीं से भी उठा देते हैं और भेज देते हैं ट्रेन के टाइमिंग भेजता है कोई कोई क्या भेजता है कोई कुछ भी भेजते हैं कोई जो भेज देता है कोई के अवकात जो है उनकी अगर आपको अपने वक्त की कदर नहीं है ये भी बुरी बात है लेकिन इससे बुरी बात यह है कि आपको दूसरों के भी वक्त की कदर नहीं है तो ये डबल प्रॉब्लम कम से कम अगर आपको अपने वक्त की कदर नहीं है तो न सही कम से कम जिस आदमी को अपने वक्त की कदर है उसके वक्त की तो कदर करें और ना को मत भेजिए वाकई कोई आप अगर ऐसी चीज़ है जो मालूम होना ज़रूरी उसके हिसाब से आपके हिसाब से नहीं आप आपके हिसाब से तो सभी ज़रूरी है लेकिन वाकई एक आलिम को आपकी इस बताए बगैर ही मालूम नहीं पड़ सकता है और अगर उसको नहीं मालूम पड़ेगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा ऐसे अगर कोई बात है तो भेजिए वरना और मैसेज कैसे इतना लंबा मैसेज कि उसको रीड मोर भी दबाना पड़ता है व्हाट्सएप पे और ये इसका अपना नहीं कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट और इतने सारे मैसेजेस एक के पीछे एक कि आप और वीडियो अगर इसी को भूलना शुरू करूँ तो वक्त खत्म हो जाएगा हमारा वीडियो और वीडियो कैसा तीस पैंतीस एम का और मालूम नहीं क्या है अब आप यानी उस वीडियो को देखना है व्हाट्सएप पे तो उसको डाउनलोड करना पड़ेगा नंबर एक इंतजार करना पड़ेगा वो सर्कल पूरा डाउनलोड हो रहा है उसके बाद क्या होगा ऐसा वीडियो होगा जिस जिसकी मुझको न जवानी में जरूरत है न बुढ़ापे में कोई जरूरत नहीं है वो आपका एंटरटेनमेंट है लो मेंटालिटी के साथ में वो आलिम को आप भेज रहे हैं उसको जरूरत नहीं इस चीज़ की लेकिन आप ये समझते हैं कि हर मैसेज जो मुझ तक आया है ये मेरी अखलाती जिम्मेदारी है कि मैं पूरी दुनिया को पहुंचाऊं खूस उन लोगों को जिनके पास वक्त कम है कम है उनको पहुंचाओ क्या जरूरत है आपको मत कीजिए ऐसा मेहरबानी करके ऐसा मत कीजिए आदमी एक दिन में एक मैसेज किसी को भेज दिया बस ज्यादा से ज्यादा दो बहुत नहीं मेरे को नहीं जमता बगैर भेजे तीन इससे ज्यादा मत भेजिए जो आदमी कम मैसेज भेजता है उसका मैसेज आदमी पढ़ता है आप आप खुद अपने आप को देखो ना जो आदमी बरसात की तरह मैसेज भेजता है आप पढ़ते उसको नहीं जो आदमी लंबे मैसेज भेजता है एकदम आप पढ़ते उसको नहीं उमूमन कोई भी किसी के मैसेज नहीं पढ़ता है हर आदमी देखता है कि मैंने जो मैसेज फेसबुक पे डाला है लाइक कितने हुए दूसरे ने भेजा कोई पढ़ता नहीं उसको आदमी कोई किसी के मैसेज पढ़ता नहीं जितना छोटा मैसेज होगा उतना अच्छा जितना बड़ा होगा पढ़ने के चांसेस कम है एक बात छोटी सी आप भेजें चालीस अभी आप भेज रहे यानी क्या मतलब मैं मर रहा हूँ अभी पढ़ लो इसके बाद मौका मुझको मिलने वाला नहीं या तुम मर जाओगे कल को पढ़ लो एक साथ एक दिन में चालीस से एक साथ चालीस से कोई हद है इसकी मतलब आप एक मैसेज भेजें छोटा दावत को आपको कदर कीमत उसकी बढ़ाना है उसको मुख्तसर से मुख्तर पैगाम आप भेजिए लोग पढ़ेंगे आपकी बात को और ये नहीं कि फला तारीख को एक धमाका होने वाला है तो आप आदमी सोचता है मैं नहीं बताऊंगा धमाके में अगर ये मर गया तो क्या होगा पुला रमज़ान की सत्ताईसवीं शब को क्या होने वाला है एक धमाका होने वाला है और इसमें सब वो मर जाए ऐसे फजूल मैसेजेस अच्छा एक लंबा मैसेज जिसमें कम से कम 10-15 हदीसें हैं और किसी आलिम को भेजे इन आदिश की तहकीक भेजिए तो आपने खुद तो पूरा मैसेज पढ़ा नहीं और आलिम को आप भेजें और आप कहें कि इन इन अहादीस को तहकीक करके सही है ज़यीफ़ है भेजिए बाद अवत आलिम भेज भी देता है हदीस नंबर एक ज़यीफ हदीस नंबर दो सही करता है बोलता इन अहादीस में बताइए क्यों सही और क्यों ज़यीफ है तेरी अवकात है समझने की तुझको तो खुद समझता है अगर आलिम इतलाहत में बयान करना शुरू करे फी फलान फलान वखदा वखदा और वो ज़यीफ है और इस वजह से फ़ुलाने का समझेगा भी नहीं हदीस के उसूल तो उसको मालूम नहीं है चाहता है कि आलिम पूरा भेजे उसको दूसरा कोई काम नहीं है अच्छा बालों का मैसेज भेजेगा और फिर आलिम अगर जवाब न से बिजी है बेचारा हो फिर एक मैसेज भेजेगा आपने मेरे मैसेज का जवाब नहीं भेजा क्यों नहीं भेजा भेजना थी आप उलमा हैं भेजना थी आप बताइए उलमा के औकात उनके औकात कितने कीमती हैं आप अपने ऑल फॉल मैसेज के जरिए से आप चाहते हैं कि आपका जवाब हर आदमी दे नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा अपने वक्त की भी कदर करें दूसरे वक्त दूसरे के वक्त की भी कदर करें दावत में हिकमत होना जरूरी है आप मुफीद चीजें भेजी और एक दिन में कम से कम एक दो तीन हराम नहीं चार भेजना लेकिन अकलमंदी के खिलाफ है वो काउंटर प्रोडक्टिव है कि जो आदमी बार बार मैसेजेस भेजेगा उसके मैसेज की कोई कदर करेगा नहीं इस बात को याद रखिए इस बात को याद रखिए तो दावत के मैदान में भी नौजवानों को आना चाहिए और दीनी मजालिस में बैठना दीनी प्रोग्रामों में साथ देना जैसे कोई इज्तम है दीनी इज्तम है आपको बयान करना नहीं आता है अब हर आदमी सोचे कि मुझको बयान करने का मौका मिले ये भी गलत है आज एक एक एतबार से एक यानी फैशन बन चुका है कोई कोर्स अगर रखा जाए कि भाई ये दीनी कोर्स है आप इसमें शरीक हो तो लोग पूछते हैं कि ये कोर्स करने के बाद हम लोगों में बयान करने की कैपेसिटी हमारे अंदर आएगी कि नहीं आएगी यानी उसके नज़दीक बयान करना ये असल दावत है याद रखें हर आदमी बयान करने की ताकत नहीं रखता है उसके लिए इल्म उतना चाहिए कि जैसे एक ग्लास में आप पानी भरते हैं भरते भरते भरते भरते भरा और फिर उबलना शुरू हुआ तो जब बर्तन भरेगा तो उबलेगा अब इसका बर्तन क्या है खाली और नीचे से सुराख और आप चाहते हैं कि ये बयान करने वाला बने अभी इसका अखलाक दुरुस्त नहीं हुआ अभी इसका तस्किया नफ्स नहीं हुआ रियाकारी सर से पांव तक है एक बयान अगर किया तो पूरी दुनिया में मैसेज भेजता है एक बयान अगर किया उसके पूरे फोटो और इलाके वालों को बोलता है वो जो फोटो है मेरा वो जो एकदम स्टाइल में जो मैं उंगली उठा के शहादत की उंगली उठा के जो बात कर रहा था ना वो फोटो भेजो ये हाल इसका है बल्कि बाद वक्त तो खुद ही बयान करते करते ऐसा करके फोटो निकाल लेगा रियाकारी अभी इसकी गई नहीं और ये दाई है ये दाई नहीं है आज दावत अपनी शख्सियत को नुमाया करने का जरिया बन गया है हालांकि दावत क्या है अल्लाह की बात को नुमाया करना और लोगों में आम करना ये दावत है ये दावत है लेकिन आज दावत क्या हो गया अल्लाह का दीन अल्लाह वो तो है वो तो होगा ही होगा भाई लेकिन मैं मैं भी होना चाहिए इसी का नतीजा है कि एक आदमी स्टेज पर बैठकर खुद अपना तारुफ करवाता है उसका जो भी असिस्टेंट है वो क्या करेगा ये हांगकांग गए थे ये अमेरिका गए ये इंडोनेशिया गए ये मलेशिया गए ये सऊदी गए ये पुरानी जगह गए इनके इतने प्रोग्राम हुए और बात प्रोग्राम में तो इतने दूर तक लोग थे कि दिखाई नहीं देता था आखिरी आदमी और ये इतनी जबानों में बोल सकते हैं उर्दू में बोल सकते हैं अरबी में बोल सकते हैं इंग्लिश में बोल सकते हैं हिंदी में बोल सकते हैं और पुरानी जुबान में बोल सकते हैं उसी का आदमी है इसी ने उसको पूरा प्रूफ रीडिंग किया है सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है और ये इसकी मर्जी से बोल रहा है और पंद्रह मिनट बीस मिनट तो इसके तारुफ में जा रहे हैं ये चाहता है कि हो और अगर उसने कोई मुल्क छोड़ दिया तो बोलता हांगकॉन्ग भी गया था मैं आज हम अपनी शख्सियत को नुमाया कर रहे हैं नौजवानों में भी बाद जो पैदा होता है कि हम दावत दें और हम लोग लोगों के दरमियान नुमाया ये नहीं होना चाहिए अल्लाह के लिए दावत दीजिए जैसे नमाज अल्लाह के लिए पढ़ते हैं वैसे दावत भी किसके लिए होना चाहिए अल्लाह आदमी इमाम शाफी रहमत का कौल आप देखिए कहते हैं ये जो सारी किताबें मैंने लिखी हैं इमाम शाफी क्या लेवल का आदमी है बड़े आलिम जो बचपन ही से लोगों को हदीस और फिक्र का दर्द देते थे अभी जवान भी नहीं हुए थे कि उन्होंने लोगों को दर्द देना शुरू कर दिया था जवान भी नहीं हुए थे इतना बड़ा इमाम वो कहते हैं कि सारी किताबें जो मैंने लिखी हैं मेरा दिल तो ये चाहता है कि इन किताबों की नस्बत भी मेरी तरफ ना हो कि मैंने लिखा है लोग मुझको मुझसे इन किताबों को ना जोड़ें यानी वो दिल चाहता है कि मेरी नस्बत भी ना हो क्योंकि पढ़ाना तो पड़ेगा उस जमाने में किताबें कैसी होती थी लिखने वाला पढ़ाता था तो मालूम पड़ता था इनकी किताब है मजबूरी थी मालूम ही पड़ेगा तो कहते मेरा दिल तो जाता कि ये मेरी तरफ नस्बत भी इनकी तो आप गौर करें कि सरफ में इखलास था नौजवान आज दावत दे रहा है लेकिन उसके अंदर फुला दाई फुला दाई फुला दाई यूट्यूब पर है फेसबुक पर है इंटरनेट पर है इसका वेबसाइट है इसके फोटो हैं ये इंटरनेशनल है उसको देखकर उसके दिल में जज्बा क्या पैदा हो रहा है मैं भी ऐसा बन जाऊं अपने आप को नुमाया करने का शौक नहीं होना चाहिए आप दावत के मैदान में लगे अगर आपके अंदर बोलने की सलाहियत है किसी मालिम के ताबे हो जाएं जो किताब वो बोलता है पढ़ते जाइए जो किताब वो बोलता है सुनते जाइए उसके सामने अपने हाल को पेश कीजिए उसको जब लगेगा वो बोलेगा हाँ अब तू दर्ज देने लायक है जो मालिम है जो उस्ताद है जो आलिम है उसकी तरबियत में रहे आप सालों साल उसको मालूम है ये कब बनेगा खाना खुद नहीं बोलता मैं पका जो भटियारा है जो पकाने वाला बावर्ची है उसको मालूम पड़ता है पक गया उसको हांडी से उतारता है बराबर उसको परोसता है इसी तरह से जब तालब इल बनता रहेगा मालिम के मातहत मालिम को मालूम है इसको इसकी ये हांडी कब उतारना है ये कब वाकई लोगों के लिए मालिम बनने लायक बन गया वो बराबर कहेगा अब तू जा अब दा, दावत दे लेकिन ये जो शौक है ये शौक अच्छा अच्छा नहीं है इसमें रियाकारी का शौक है तो बयान का शौक होना अच्छी चीज नहीं है बयान का शौक होना अच्छी चीज जिस आदमी के अंदर ये शौक है मैं भी बयान करूं हजारों लोग हों सुने तालियां बजाएं और मेरा फिर फोटो न्यूज़पेपर में आए कम से कम फेसबुक पे आए लोग शेयर करें लाइक कितने हुए मेरे बयान को क्या आदमी छोटी सी तकरीर कर लिया किसी स्कूल के फंक्शन में लोगों ने उसको रिकॉर्ड कर लिए उसको यूट्यूब पे डाल दिया अब आदमी रोज चेक करता है लाइक कितने हुए उसको लाइक ज्यादा नहीं हुए तो दुखी लाइक बहुत हो गए वायरल हो गया सुखी खुश ये इस बात की अलामत है कि तूने ये काम अल्लाह के लिए नहीं किया तूने लाइक के लिए किया अल्लाह लाइक करे ये तेरी फिक्र होनी चाहिए लोग लाइक करें ये तेरी फिक्र नहीं होना चाहिए बल्कि दिल में कराहत पैदा हो लोगों में शोहरत से कराहत जब तक के इंसान के अंदर पैदा ना हो तब तक कि वो कामिल नहीं हुआ लोगों में शोहरत की कराहत जब तक दिल में ना हो तब तक कि ये आदमी अभी बना नहीं ये अधूरा है ये अधूरा है ये अधूरा नहीं है ये ऐबदार है इसमें ऐब है लिहाजा हमारे जो नौजवान दावत के मैदान में है वो शोहरत की कराहत की कोशिश करें जब तक कि ये पैदा नहीं होता ये बना नहीं है लिहाजा इस इस चीज़ के लिए कोशिश कर अल्लाह ताला हम सबको तोफ़ी अदा फरमाएं इखलास हम सब में के दिलों में पैदा फरमाएं मज़ीद बातें इन हम अगले दर्स में देखेंगे कि वो क्या चीज़ है जो हमको अपने अंदर पैदा करनी ज़रूरी है अकुल सफ़ीम अभी अजान होगी इंशाल्लाह और जो लोग वजू करना चाहते हैं इस्तेजा वगैरह से जल्दी फारि हो जाए आठ बजकर चालीस मिनट पर जमात खड़ी होगी इंशाल्लाह <laughs>